और ये कि इंसानों में से कुछ लोग जिन्नात के कुछ लोगों की पनाह लिया करते थे इस तरह उन लोगों ने जिन्नात को और सर चढ़ा दिया था